मुझे मिला नहीं इसलिए मैं स्वप्न के सकल पदार्थों को अव्यक्त और सूक्ष्म मानता हूँ और जागृत में जब जब जागृत नहीं आता तब तक वो पदार्थ मिल जाते हैं इसे जागृत के वस्तुओं को व्यक्त और स्पष्ट में मानूंगा तब सिद्धांत भी कहता है वास्तव में ये भी सब कल्पना ही है तब आप महाराज सारी कल्पना कल्पना कहने से भाई कल्पना में फर्क क्यों आया तो बताओ आखिर में कल्पना में ऐसे फर्क क्यों आ रहे हैं कारण यह है वहाँ के कल्पना में सकल वस्तु अव्यक्त हो गए क्यों क्योंकि वह कल्पना क्रम एक ताम मन इंद्रिया नहीं थे और यहाँ में इंद्रिया है और इंद्रिया कैसे है एक दूसरे से निरपेक्ष होकर मन को सामान माल मेटेरियल देते हैं जब एक दे रहा है तो दूसरा नहीं दे रहा है एक ने घड़े को का रूप देख करके खबर दिया और छुआ आपने पकड़ा उसको तो इसने बाद में खबर दिया ना एक कारण कल्पना हो रही क्या चक्षुर इंद्री ने जब अपनी कल्पना को लेकर संबंधित कर रहा है उस समय तो इंद्री का संबंध नहीं है और तो इंद्र काल में वो अलग संबंध हो गया पूर्वोत्तर दो भिन्न काल में दो कल्पनाएं हो गई इसलिए तुम्हारे दिमाग में आता है ये स्पष्ट है व्यक्त है और वह आप तीसरे क्योंकि सारे इकट्ठे हो जा रहे मन सारा खेल रचा अकेला तीसरे कहते हैं विशेष तो इंद्रियांतर है एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के बिना ही वस्तु का प्रतीति हो जाना ही इंद्रिया का तात्पर्य एक इंद्रिय के बिना दूसरे इंद्रिय क्या कर रहा है अपना काम करके वस्तु को दिखा दिया उसके दिखाने के बाद दूसरे ने क्या कि इंद्रिय ने अपना विषय को उसी वस्तु से प्रकट कर दिया तो एक ही वस्तु अलग अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग पदार्थों का बोझ करा देता है आप कहेंगे तो ये तो बड़ा स्पष्ट है बहुत समय तक टिका है तो इसने देखा तो इसने रूप को दिखा दिया उस स्पर्श को दिखा दिया कुछ कर दिया कोई संख्या को गिना रहा है कोई कुछ कर रहा है सब इंद्रिया अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं और एक काला चित्र नहीं करते हैं एक मन अकेला उनको ग्रहण भी नहीं कर पाता सीधा सीधा क्योंकि स्वप्न में मन स्वतंत्र है और जागृत मन इंद्रियाधीन है इसीलिए आपके व्यक्तित्व और अव्यक्तता जो भेद है आपको प्रतीत होने लगता है वास्तव में ये भी एक कल्पना ही है इंद्रियों ने क्रम से एक के एक पकड़ा एक आपकी कल्पना है स्वप्न में इस तरह से हो सकता है आप अपना बनाए उसके बाद स्वप्न में भी आप इंद्रिया बना लो स्वप्नांतरवर्ती जो जागृत है स्वप्नांतरवर्ती जो जागृत है वो कैसा है व्यक्त है या नहीं इसी प्रकार से ये अविद्या के अंदर हम स्वयं पढ़े यहाँ पर भी ये भी एक स्वप्नांतरवर्ती जागृति है ये जो जागृत है ये भी महास्वप्न के अंदर वाला जागृत है इसलिए अक्षुद्र स्वप्नांतरवर्ती जागृत जिस प्रकार के होता है उसी प्रकार से महासूत्र चल रहा है समष्टि का उसके अंतर्वर्ती जागृत भी उसी समान ही है इसलिए विशेषता केवल आपके अपने परिकल्पित इंद्रियों का होना और इंद्रियों के न होने को लेकर है वह की का भेद नहीं है यद्यपि अंतर अव्यक्तम भावाना भाष्कार यद्यपि अंत भावना अव्यक्तत्व मनो वासना मात्र राम मनोमात्र मनो की मन की वासना मात्र से अभिव्यक्त जो अंतर्वर्त भाव पदार्थ हैं वो अव्यक्त होते हैं स्फुटत्व बही चक्षुरारी चक्षुरारी इंद्रियांतर ग्राह्याम और स्फुटत्व का है जो बाहर जो कि चक्षुरारी इंद्रियांतरों के द्वारा ग्राही हो रहे केवल मन के द्वारा नहीं ना कहने क्या है मात्र अभिव्यक्त है और ये क्या है मनोमात्र से भिन्न चक्षुरा इंद्रियों के द्वारा निग्राह्यता है यहाँ पर ये फर्क हो गया विशेष हो ये जो विशेष है नासो वेदाराम अस्तित्व करता भेदों की वास्तविक अस्तित्व को लेकर के एक विशेषता है ऐसा आप न कहें क्यों स्वप्ने पे तथा दर्शनार्थ स्वप्रांतरवर्ती स्वप्न और जागृत में जैसा वैसे यहाँ का भी समझ लो फर्क क्या पड़ता है क्यों कर रही ठीक है फिर क्या हो अरे पीछे तक जा रही मेरी कल्पना में इतना फर्क कैसे हो तो मैं ही कल्पना कर रहा हूँ मैं यहाँ भी कल्पना कर रहा हूँ हाँ जैसे कल्पना कर रहा हूँ ये तो तुम जानोगे कैसे कर नहीं कर रहे हो मैं इसे पूछ रहे हो तो मैं ही बता देता हूँ तो कैसे किया तुमने आता कल्पिता एवं जागृत भावापी इंद्रियांतरकृत बस इतना ही है वहां पर आप क्या किया कल्पना करते हो केवल मन को मन से कल्पना करते रहे और अब यहाँ केवल मन से नहीं कर रहे हो इंद्रियांतरों को भी लेकर कल्पना कर लेते हो इसीलिए अंतर आपको महसूस होता है आपकी कल्पना में तो फर्क आ गया है जैसे किसी आदमी को जो है एक चित्र बनाने को कह दो चित्र बनाने को कर दो बना दिया उसने चित्र चित्र बनाने के बाद उसको कहना भाई इस चित्र का शीर्षक दो इस चित्र का एक शीर्षक देते ना नाम देते ना एक चित्र का मतलब क्या कुछ तो लिखना पड़ेगा तो एक लिख के देगा जो उसको लिख के रख लेना जुआ नहीं लिखने देना जो खेगा उसको अलग से पे लिखवा लो तो हफ्ता दस दिन के बाद फिर आना तो भाई आपने चित्र बनाया था आपको ध्यान है हाँ हाँ याद है हाँ, हमने ही बनाया था इसको तो कहेगा ही क्यों उसने बनाया है नहीं निकले वो भूल जाएगा उस चित्र में है जो शीर्षक दिया उस कल्पना का क्या था आधार किस आधार पर उसने बनाया था ये बात तो भूल जाता है इसका क्या शीर्षक दिए या नया शीर्षक दे दो कोई चीज बताओ तुम्हारी कल्पना का क्या मतलब है फिर वो सोचेगा ऊपर नीचे इधर उधर देखेगा अगर नया नाम और देते अरे क्यों अरे तुमने ही तो चित्र बनाया था तुमने इस चित्र कल्पना की थी अब पहले उस कल्पना का स्वरूप अलग था एक अलग शीर्षक बन गया और उसी चित्र में दूसरी कल्पना आ गई और नया शीर्षक आप चंद्रमा पुस्तक देखे है ना कभी वहाँ पीछे चित्र देते दो चित्र होता है अंतिम पन्नों में और कहते जो शीर्षक देगा उसको पुरस्कार मिलेगा अभी जितनी कल्पना होती है आप कभी उनसे पूछो तो पता चले कितनी चिट्ठिया आती है और सारी चिट्ठियों में से एक चिट्ठी से दूसरा चिट्ठी में समान नाम कभी मिलेगा ही तीन सौ शीर्षक आया है तो तीन सौ अलग अलग रहे चित्र एक है आपकी कल्पना अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई इसे अलग नाम दिया कि नहीं दिया लोगों ने क्यों केवल मन का काम नहीं कर रहा इंद्रियों का भी काम जिसकी इंद्रिया जैसा जिस चीज को देखना चाह रहे हैं वैसे देख रहा है पहले कई बार चर्चा हो चुकी people see what they want to see यानी चौराहे में कोई दुर्घटना का दृष्टान दिया था ना डॉक्टर से सभी है सब अपना अपना हिसाब किताब देख रहे चीज तो एक है वस्तु एक है लेकिन कल्पना अलग अलग उसी प्रकार व्यक्ति अकेले का भी अपनी ही कल्पना भी अलग अलग होती जाती है आप कल्पना करके आए यहाँ शुरू में आते हैं ना जब सुन के आते हैं वहाँ ऐसा ऐसा होता है पाठ होता है पढ़ाता है ऐसा है वैसा है तो अच्छा वो, वैसा ऐसा है बहुत बढ़िया है तो ठीक है अब आते बहुत जोशावास के साथ बड़े उत्साह के साथ धीरे धीरे धीरे बैटरी डाउन होती जाती कल्पना बदलती जाती नहीं बदलती पहली जैसी आप कल्पना लेके आए ये जाते हो तो वही कल्पना रह जाता है पूरा स्थिर रहेगा क्या रोज रोज बदलता है है या नहीं रोज पाठ सुनने के आज की पाठ सुना तो अलग बात मन में आती है कल की पाठ सुना तो कल कुछ और आ गया था कल्पना बदलती रहती क्यों हुआ क्योंकि आपके संस्कार और वासना में परिवर्तन होते जाते कल्पना का मूल कारण क्या है मूल स्रोत क्या है आपके वासना और संस्कार और उसमें हेरा फेरी जैसे जैसे होता है वैसा कल्पना फर्क पड़ती इसी कारण से इनका कहना है कि हम एक में इंद्रिय सापेक्ष होकर जब कल्पना करूंगा हमारी वासना संस्कार इंद्रियाधीन होकर व्यवहार करेंगे और इंद्रियों को छोड़कर केवल मन वासना में व्यवहार करेंगे वहां कुछ वासना के स्वरूप अलग हो जाता है वो वासना अलग ढंग से कार्य करती है दोनों अलग अलग कार्य करते एक और भी बात समझना है तो इनको इंद्रियांतरे का या इंद्र निरपेक्ष है वहां इंद्र सापेक्ष है या मन अकेला कर रहा है तो कैसे कर रहा है और दूसरे के साथ मिलकर दूसरे के अधीन होकर करके तो कैसे करता है इस अंतर को समझो एक बालक है उसको छोड़ दो चुपचाप आप हाँ, बिल्कुल सीनरी पे रहना ही नहीं करने दो उसको जो करना है खेलने दो अब तब देखना हो क्या क्या करता है उसकी कल्पनाएं सामने आती है अपनी कोई तो बोलने वाला नहीं ना ऐसे बनाओ कैसे बनाओ ये करो वो करो बोलने वाला ही और वो अपने मनमाने बना रहा है वो रेती में बहुत चीजें क्या क्या बना लेता है अरे दूसरा साथ पे छोड़ दो दूसरे दोस्त को छोड़ देना और दूसरे बच्चे को फिर देखना कितने फर्क हो जाएगा क्यों अब द्रोह का चलेगा ना ये उसको सुनेगा उसको सुनेगा ये ऐसे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा वो कहना नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो अब उसके मन की स्वतंत्रता खत्म हो गई हुई नहीं हुई तब जो कल्पना बनी और साजे कल्पना जो है वो अलग हो बनेगा ये तो सभी का प्रारभाव सिद्ध वस्तु है करे मतलब जब केवल मैं अकेला हूँ मैं अपने मन से कर रहा हूँ तो अलग और दूसरे की इंद्रियों के दूसरों के मन के समझ जोड़ देता हूँ तो अलग हो जाता कि नहीं हो जाता है उसी तरह से अपने अपने आप भीतर में देख लो आपका मन अकेला हो और इंद्रियों के साथ हो तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो फर्क सुधा उसी पॉइंट पर अग्रह प्रकार है अतः कल्पित जागृत इसलिए वो भी कल्पना है ये भी कल्पना है एक इंद्र सापेक्ष कल्पना है और एक दूसरा इंद्र निरपेक्ष कल्पना है हर कितना है है दोनों कल्पना ही इस राजा कल्पिता एवं जागृत भावापी स्वप्रभाविती सिद्धम इस सिद्धि सिद्धांत को कोई तोड़ नहीं सकता अवध सर्वस्व कल्पित ठीक है सारी दुनिया कल्पित है तुम्हारे हिसाब से मान के चलता हूँ लेकिन साफ पुनः सर्व कल्पना केवल द्वारा का कल्पना किस किसके द्वारा होगा तो कल्पना करने वाला भी कल्पित है या नहीं कौन कल्पना कर रहा है जीव है कहोगे और जीव भी तो कल्पित है कि नहीं है फिर तो जीव की कल्पना का कौन किया वो कल्पित है या नहीं बड़ा मुश्किल पड़ेगा चक्कर यहाँ है या नहीं जीव की कल्पना ईश्वर ने किया ईश्वर को किसने कल्पना किया तो जीवों की वजह से हुआ अर्थात अन्य आश्रय आ गया जीवों की वजह से जीवों जीव तो अनाधिकार से थे उनके वजह से ईश्वर या फिर जीव भी अनादि होगी अनादि और सारे अनादि मानने पड़ते है ये नहीं अनादित्व की कल्पना सभी में लानी पड़ जाए कहेंगे वो अनादित्व कल्पना जो किया वो कौन था वो तो कल्पित है या नहीं कल्पना कोई करेगा ना जो करने वाला है कल्पना तो क्या है ये बताओ कौन कर रहा है वो कैसा उसका स्वरूप बताओ ये लिया सारा जगत स्वप्न के समान कल्पना है इन कल्पक की सिद्धि नहीं हो सकती ये पूर्व पक्षी कहेगा जीवन कल्प यदि पूर्वम तथो भावान कृत विधान पायान आध्यात्मिका श्रीव यथा तथा स्मृति सिद्धांत ने जवाब दिया जीवन कल्प पयते पूर्वम सबसे पहले इस आत्मा ने क्या किया अपने जीव भाव की परिकल्पना कर लिया देखो कितना भगवान की ऐसी विचित्र लीला हो रही है कि प्रसंग सुंदर जुट रहा है कि नहीं शंकर कल के भागवत और देखो पहली कल्पना क्या है यदृक्षया पड़ी कहीं से भगवान जाने आत्मा की माया आ गई यदृक्षा दैवे दैवे ना इतने शब्द है ना कल आ गया आया हुआ है प्रतिबिंब जैसे पड़ा प्रतिबिंब में जीवत्व आ गया कहा जीव कल्पना माननी पड़ती उसके बिना कोई व्यवस्था नहीं और जीव कल्पना के लिए माया की जरूरत माया कहा जाए ये मत पूछो जिसलिए हमको संसार दिखाई दे रहा है जो पूछा ना कल्पक कौन है पूछने वाले का ज्ञान ही माया और कुछ वहां विचार आया था सब और रजोगुण अनाभिभूत तम ही अविद्या उस अविद्या से जीव भाव प्रकृति अपने आप दो भाग बांट लेती है पर एक क्षोभ हुआ उसे क्षोभ कण खुद आत्मा रूप रूपेण क्षोभ कर दिया काला तो पच्चीसवा कालात्मा का वही आत्मा क्षोभ पैदा करता है माया में तब तो माया में दो भाग हो जाता है एक रज प्रदान एक तम प्रदान तम प्रदान का नाम अविद्या उसे प्रतिम पड़ा जीव हो गया और रज प्रदान का नाम माया उसे प्रतिम पड़ा ईश्वर क्रम से पहले जीव कल्पना हुई तमोगुण पहले फिर रजगुण अपना कार्यशील किया फिर सत्य गुण स्वर दोनों को प्रकाश कर तो जीव ईश्वर दोनों जब बन गए जगत निर्माण हो जाता इसलिए यहाँ पर पूर्वम कहते जीवम एवं पूर्व कल्पते तथो तत्पश्चात भावानंत तद विधान उसके बाद सारे चौबीस पंच पंच अठारह कर चतुरा दश चक्र जो कहा कि चतवारा दश चक्र का पांच पांच चार दस वो चौबीस बनाया तो चौबीस आ गया बाह्यान आध्यात्मिकास चौबीस कौन नहीं वो भी कुछ तो बाई है कुछ आध्यात्मिक इंद्रिय आदि वगैरह आध्यात्मिक हो गए बाकी बाई हो गया घटपट आदि तो भी कैसे हुआ ये यथा विद्यस्तता स्मृति धाता था पूर्व अकल जिसकी जैसी विद्या है जैसी सामर्थ्य है जैसा बुद्धि है वैसे वैसे होता है और बाहर लगता है यथा विद्या स्मृति पूर्व तथो भावांत विधान बाह्याध्यात्मिकाश्चैव विध्यस्तथा स्मृति कहते हैं बाह्य आध्यात्मिका नाम भावानाम इतरेतर निमित्त कल्पनायाम किम मूलम उच्यते बाह्य और आप्यंतर पदार्थों के जो परस्पर निमित्त निमित्त भाव जो जब अनुभव कर रहे हैं एकदर्श निमित्त पृथक भाव की कल्पना करने में कौन मूल कारण था किसने किया एकदर्शी कल्पना कल्पना हुई आपने कहा मैं मान भी लिया आपने विभिन्न तरफ दे करके दृष्टांत से समझाया मानता हूं कल्पना है मैंने कल्पना आखिर में किसने की ये तो बताइए आप इसके द्वारा कल्पना किया गया जीवम कल्पयत जीवन हेतु तो फलात्मक हम जीवन जीव ही कार्य कारणात्मक है कर्तृत्व ना ये कारण बनता है और भोक्तृत्व ना हो जाता है कर फल भोगा भोक्ता बनेगा ना ये जब भोगेगा भोक्तृत्व फल भोक्तृत्व है तो फल वाला हो गया और जब करने लगता है तो कारण बन जाता है कर्तृत्व से बोलेगा भोक्तृत्व अध्यास का अधिष्ठान होकर के ये हेतु है और भोक्तृत्व अध्यास अधिष्ठान होकर के ये फल रूप है इसे कहते हेतु फलात्मक जीवम प्रदर्शन भी करा रहे अभिनय करके दिखा रहे अहम करोमी ये कारण हुए मैं करता हूँ मैं कल्पना करता हूँ हम कल्पना करोली हम कर्म करो इत्यादि और फलात्मा क्या है मामा सुख दुख है मेरे को सुख मिल रहा है इसे मेरे को सुख मिल रहा है इस प्रकार का अनुभव करता है फल है इतम लक्षणम जीवम ये जीव का लक्षण अहंता ममता युक्त हो जाना कर्तव्य भुक्तृत्व से युक्त हो जाना ही जीव का लक्षण है अनेवम लक्षण शुद्ध आत्मनी कहा हुआ है सब जो अनेवम लक्षण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से रहित तो एवं लक्षण वाला जो नहीं है कैसा है वो फिर विशुद्ध है परिशुद्ध आत्मस्वरूप स्वरूप है उस आत्म स्वरूप में स्वरूप को ही जीव कल्पना का अधिष्ठान भाई और आत्म कल्पना का अधिष्ठान जीव है और जीव कल्पना का अधिष्ठान भी कौन है तो आत्मा है क्योंकि आध्यात्मिक है ना जीव क्या है आध्यात्मिक कर्तृत्व के अध्यात्म अधिष्ठान बुधा परिचिन चैतन्य है अंतर्गणावचिन चैतन्य जिसमें कर्तृत्व का अध्यास हुआ है कारण चेतन का नाम जीव है इसलिए यहाँ पर कहते हैं अरेवन लग्न शुद्ध आत्मनी रज्वाम सर्पम कल्पते पूर्वम जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना हुई उसी प्रकार से आत्मा में जीवम कल्पयते पूर्वम सबसे पहले आत्मा में जीव भाव की कल्पना हो गई जो कि सब का कल्पक है समी जीव की कल्पना हुए भी ना सबसे पहले वहां भी आता ना पुराणों में आप देखते हैं क्या सब जगह से पहले नाम कमल निकला उसके ऊपर एक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए नागल के माया में माया और माया क्या है तो जैसे अभी भी यहाँ कहेंगे जीव कल्पना हुई आत्मा में ठीक है उसको कौन किया बाह्य जगत को और आंतर जगत को जीव ने किया जागृत और सपनों को ठीक है जीव को जीव को जीव ने उसको कर लिया तो आपने कहा और जीव भी क्या है कभी वो भी कल्पना ही है आत्मा में फिर वो कल्पना कौन करेगा तो माया करेगी और कौन करेगा आगे जवाब देंगे उसका तथा तादर्थ्यन क्रियाकार फल वे नाना विधान भावान बाह्यानाधित काश्चैव कल्पयत तथा मैंने तादर्थ्यन उस जीव के लिए ही क्रियाकारक फल वे देना क्रिया और कारक एवं फल इन त्रिपुटी भेद के माध्यम से प्राणादियों को जो कि नाना प्रकार के भाव पदार्थ हैं और कुछ तो बाहर है और कुछ भीतर है बायानात्माधिकांश कल्पयते कोई भी आरोप होता है वो बिना अधिष्ठान का होता है इसलिए रजवा को सर्प ये दृष्टान इसलिए बताया विना जो अधिष्ठान का और आसन है इसे जे यदि और आरोप हुआ है तो कहा हुआ ये तो कार्यक्रम में बताया नहीं सबसे पहले जीव की कल्पना हुई इतना कर दिया कार्यक्रम यानी कहा हुई कल्पना तब उसको इन्होंने बताया आत्मनी भाषाकार में उसको पूरा किया है इसे दृष्टा समझा रहे क्या कैसे आपने लिया है आत्मा को गए जिस प्रकार से सर्प जो है बिना अधिष्ठान की कल्पना हो नहीं सकती रज्जु का अधिष्ठान जैसे वो करते हो उसी में जीवी कल्पना विधि हुई है तो कोई अधिष्ठान में हुआ और वह अधिष्ठान कौन है वो अशुद्ध शुद्ध आत्मा आत्मा नहीं आत्मा बन पता नहीं क्या आत्मा है आत्मा शुक्र हजारों और थे इसलिए जो है शुद्ध आत्मा बोलो तथा उसके बाद क्या किया उसने कि तादत्यना उस जीव के लिए ही क्रिया कारक फल भेद के द्वारा प्राणादियों को नाना विध भावों को बाह्य और आध्यात्मिकों को कल्पना किया तद कल्पना को हेतु क्या ऐसी कल्पना करने में क्या कारण है क्योंकि जो है यो स्वयं कल्पित जीव सर्व कल्पनायाम अधिकृता स यथा विद्यो यादृशी विद्या विज्ञान यथा विद्या कहते हैं कि भाई इसको भी करने में क्या कैसे इसने कर डाला तथा कल्पना हमको हेतु तो। इस प्रकार की बाह्य और आध्यात्मिक कल्पना करने में क्या कारण बन गया और जीव के लिए क्यों कर रहे हैं आप कोई कारण भी तो होना चाहिए अरे जीव करने वाला कोई और तो है नहीं जीव खुद ही किया है ना अपने लिए अपने लिए क्यों किया फिर अपने दुख को क्यों किया आपने कल्पना क्या सुखी कल्पना करते अज्ञान की क्यों कल्पना की आपने अपने लिए क्यों पढ़ना पड़ रहा है जब जन्म लिया उसमें कल्पना क्या कर लेते अपने अपने लिए लिए विद्वान सर्वशास्त्र ज्ञान तब तो पढ़ना ही नहीं पड़ता या नहीं कल्पना कर रहे हो तो अपने अनुकूल अपने जो लक्ष्यभूत आवश्यक पड़ा तो वो क्यों नहीं कल्पना कर इसलिए बताना पड़ेगा आपको कि सुख दुख में किसने जो अपना फल की कल्पना किया तो क्यों चीज कोई कारण तो होगा तो ये कारण क्या है को हेतु तो इत्युचित है यदि जीव सकल कल्पना का मूलभूत कारण है फिर भी तस्वीर कल्पना विशेष विशेष हेतु न संभव होती क्योंकि वो जो कल्पना विशेष से कर डाला है दुख सकारात्मक वह विशेष हेतु के बिना हो नहीं सकता मूल कारण यदि भी वो है लेकिन निमित्त कारण भी तो बताना पड़ेगा किस निमित्त से ये मजबूर है जीव जो अपने अनुकूल केवल सुख कल्पना न करके दुख कल्पना किया केवल ज्ञान की कल्पना करके अज्ञान की कल्पना करना पड़ा उसे और अब भी देखो रटता है रटता है परेशान है याद करने को समझने की कोशिश करता है नहीं समझ में आती दिमाग में घुसती नहीं बात घूम फिर के कोलू का बैल जो वही लौट आता है या नहीं जितना भी समझा हुआ तो फिर तो घुस जाएगा नहीं ऐसा कैसे होगा फिर घुसेगा क्यों ऐसा हो रहा है जीव के साथ कोई कोई निमित्त कारण तो विशेष कारण तो बताना ही पड़ेगा जिस कारण से समझने की कोशिश कर तो भी नहीं समझ पा रहा है इसलिए कहते कि देखो यो जो स्वयं कल्पित तो जीव है फिर भी स्वयं क्या है कल्पित है जीव फिर भी वो सर्व कल्पना अधिकृत सब कुछ कल्पना करने में उसका पूरा अधिकार है क्योंकि स यथा विद्यो तो जैसे उसके पास माल मसाला वैसे उसके अंदर भी तो करेगा कल्पना कल्पना करने के लिए भी सामग्री तो चाहिए आपकी जैसी वासना जैसा संस्कार है उसके अनुरूप आप कल्पना करेंगे इसलिए कहते हैं कि देखो स्वयं कल्पित जीव है और स्वयं कल्पना करने में उसका पूरा अधिकार भी है फिर भी वो क्या है यथा विद्या मन यादृश विद्या विद्या मन विज्ञान जैसे जैसे उसके अंदर विज्ञान है उसके अनुरूप जो करेगा इति इति यथा विद्या बहुत समाज का यादृश विद्या विज्ञान अस्य इति यथा विद्या तथा भी नहीं स्मृति जैसा विज्ञान है वैसा स्मृति होगा उसी ज्ञान वो कल्पना करेगा बेचारा तथा विजय स्मृति तस्ती तथा स्मृति भवती सी अतो हेतु कल्पना विज्ञान फल विज्ञान तथो हेतु फल स्मृति तदस्त विज्ञान तदर्थ क्रियाकार फल भेद विज्ञान क्रम होगा बारह बारह चक्र चल रहा है पहले हेतु कल्पना का विज्ञान हुआ हेतु कल्पना विज्ञान से फल विज्ञान हुआ फल विज्ञान के बाद फिर हेतु फल उभय स्मृति हुई और फिर तदर्थ क्रिया कारक फल भेद के विज्ञान उत्पन्न हुआ फिर तस्मृति तस्मृत पुनः तद विज्ञानी वे चक्कर चलते रहता है हेतु कल्पना विज्ञान से सबसे पहले क्या हुआ उसको हेतु कल्पना विज्ञान वाता हाँ इसलिए तो समझा रहे प्रकृत कल्पना को ही विस्तार कर रहे हैं अन्न पानादि उपयोग सती तृतीय ऐसे उसके ज्ञान हुआ हेतु कह है ना अरे भाई मैं यदि अनपान आदि करूंगा तो मेरा भूख निवृत्त होकर मेरे को तृप्ति मिलेगी ये विज्ञान होते बराबर वो फल विधान के लिए प्रवृत्त हो गया फिर खाने पीने में लग गया खाने पीने में लग गया तो फलानुभूति हुआ कि नहीं हुआ उसको ये तो विज्ञान कल्पना विज्ञान पूर्व फल विज्ञान हुआ उस उसके केवल हेतु और प्रगल दोनों की स्मृति हुई तब उस स्मृति ज्ञान को लेकर तथा तद विज्ञानम असदी लगी अनुव्यतिरेका यहाँ पे समझ लें यदि अन्नपान न खाओ तो भूख प्यास मिटेगा नहीं अनवय ही नहीं व्यतिरेक को भी ग्रहण करना चाहिए उभयता हुआ दृढ़ निश्चय कर लेता है तब प्रवृत्त होता है तो व्यतिरिक निश्चय नहीं होगा प्रवृत्त भी नहीं होगा डर डर अंदर रहेगा पता नहीं क्या होगा वो तो निश्चय करके घुस जाता है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा यदि मान लो आप ये सोचेंगे यदि मैं परीक्षा दूंगा तो पास होऊंगा लेकिन ये भी तो दिमाग है यदि परीक्षा नहीं दूंगा तो पास कैसे होऊंगा पास भी नहीं हो पाऊंगा तो ये विषय ना हो तो आप जाएंगे नहीं अनवय अनवय के दृढ़ लेके चलो व्यतिरिक मुख से आप ना समझे तो भय नहीं उत्पन्न हो पाएगा ठीक है दूंगा तो होगा तो नहीं क्या दिक्कत है व्यतिरिक तो होना चाहिए इसलिए यहाँ पर व्यतिरिक भी अभिनय करके हसती नभव इति भोजनादिकम हेतु कल्पना विज्ञान उत्पत्ति सबसे पहले तृप्ति के प्रति भोजनादि विज्ञान क्योंकि तो कारण उत्पन्न होता है टीका में तथा तृप्तियादिगम फल उसके बाद तृप्ति रूपी फल का विज्ञान हुआ तथो अप्रेध्यो फिर उसके अगला दिन से क्या आरम्भ हो गया कहते हैं उक्तोर उभयोर भी हेतु फल स्मृति दोनों के दोनों भोजन और तृप्ति दोनों का हेतु और फल का स्मृति हुई फल साधन समान जातीय कर्तव्य विज्ञान कोफा का होता जो भोजन था तो सम, जो कल किया हुआ है खाए पिए हुए तो समाना जातीय कोई न कोई भोजन पानी के प्रति हमारी कर्तव्यता बुद्धि हो जाती है तदश्च अभिलषित तृत्यादि फलार्थत्व पाकादि विक्रिया फिर क्या करोगे अभिलषित तृप्त्यादि फलार्थ के लिए पाकादि क्रियाओं को करोगे और तत्काल तंडुलादि को बटोरोगे तत्फलात् फल अन्न निष्पत्तियादिनी और उस तंडुलादि से पाकादि क्रिया द्वारा अन्न निष्पादन कर लोगे इस प्रकार का विशेष ज्ञान भी हो जाते हैं तो, तो स्मृति फिर ऐसे ही दोबारा हेतु तो स्मृति होगा फिर स्मरण स्मृति होगी उभय स्मृति होगा फिर प्रवृत्त हो जाओगे ये संसार चक्र चलते रहेगा अनुष्ठान तदश्च फलम इतने मित हेतु हेतु मतया कल्पना बहुत परस्पर हेतु हेतु ये सारी कल्पनाएं ऐसे चक्कर चलती रहती चलती रहती शिकार कर देते तस्मृति तस्मृत पुनः विज्ञानी इतम बाह्यान आध्यात्मिकांश इस प्रकार से बाह्य और आध्यात्मिक दोनों का परस्पर कार्य का अनुभव चलते रहता है इसके प्रति वो उसके प्रति ये चलते रहेगा अन्योन्य ये ये सब परस्पर समझना इसलिए कहते हैं इतरेत्र निमित्त निमित्त का भाव है ना परस्पर कैसे है वो निमित्त निमित्त भाव से चल रहे हैं क्योंकि कहा भी निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वा संप्राय दर्शना तो सोच रहे हैं निमित्त प्राय प्रयोग सर्वासाम प्राय दर्शना प्राय यही देखने को मिलता है निमित्तों का क्रमश प्रयोग होता हुआ देखने पर यह ज्ञापन होता है परस्पर यह सभी के सभी एक दूसरे से संबद्ध है कड़ी बनी हुई इनकी आपस में संबंध बना हुआ है कड़ी निश्चय है या नहीं इसके मैंने हेतु ज्ञान पहले कैसे हुआ पूर्व जन्म फल ज्ञान थी यह आदर्श विद्या इसलिए कहा यथा विद्या तथा स्मृति अनाधिकार से चक्र चले आया हुआ है निमित्त न अनेक कल्पयते अनेक प्रकार से कल्पना करते रहता है कहते हैं आपने तो कहा हमने मान लिया चलो सकल कल्पनाओं के प्रति जीव कल्पना ही मूल कारण है लेकिन उस जीव कल्पना में निमित्त कौन है जीव कल्पना क्यों हुई कौन की नहीं है वो आगे आएगा कौन कर रहा है जीव कल्पना क्यों हुई ये से तो बताओ अर्थात रज्जु में सर्प की यदि कल्पना हुई आप मानते हो उसके लिए दृष्टान्त आपने बनाया है ना तो लेकिन रज्जु में सर्व की कल्पना क्यों हुई पहले बताओ तो कौन की बात में विचार करो क्यों इसका पहले जवाब तो आखिरी में कल्पना हुई तो क्यों हुई आगे बताना पड़ेगा कि भाई अधिष्ठान का अनिश्चय कारण है अधिष्ठान के अनिश्चय की वजह से क्या हुआ कल्पना होता है यदि अधिष्ठान निश्चय हो जाए तो कल्पना तो होगी इसलिए कदा अनिश्चिता यथा रज्जुर अंधकार विकल्पिता सर्पधारादिर्भाव तत्मा विकल्पिता यथा रज्जु अंधकार अनिश्चिता सती विकल्पिता भवती जिस प्रकार अंधकार में पड़ी हुई रज्जु के स्वरूप को आप निश्चय कर ग्रहण नहीं कर पाए इसलिए क्या हो गया वहां विकल्प हो गया क्या क्या विकल्प हुआ सर्प धारा विकल्प था कहीं सर्प कहीं धारा कभी किसी को दंड के रूप में दिखाई दिया जो अलग अलग प्रकार से लोगों को विकल्प रूप में अनेक प्रकार के उससे दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार से इस विशुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का अनिश्चय होने के कारण ही इसमें जीव भाव की प्रथम कल्पना तथा जीव कल्पना सर्व कल्पना मूल मित्युक्तम जीव कल्पना ही सकल कल्पना का मूल आपने पूर्व कारिका में तो समझा दिए लेकिन सैव जीव कल्पना किन निमित्त वह जीव कल्पना भी जो हुई उसका निमित्त कारण क्या था इसी दृष्टान देने प्रतिपाद यदि उसको उसी दृष्टांत में लौटेंगे और वह जैसे वैसे यहाँ भी समझाएंगे यथा लोगे स्वेन रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवं एव इति जैसा इस लोक में हम देख रहे हैं किसी वस्तु को अपने स्वरूप से आप निश्चय नहीं किया निश्चय का वृत्ति बनी नहीं अर्थात एवं एवं इदम इस प्रकार की वृत्ति नहीं हुई तो रज्जु हो मन अंधकारे किम सर्प दंड इति क्योंकि एवं एवं थी रज्जु को आपने मंदाधिकार कारण निर्णय नहीं कर पाए फिर क्या हुआ कहते फिर वो सर्प में दिखाई दिया किसी को तो धारा दिखाई दिया किसी को जो है दंडगर में दिखाई देगा किसी को भू छिद्रगर में दिखाई देगा इत्यादि अनेक प्रकार से कल्पित हो गई पूर्वम स्वरूप अनिश्चय निमित्त इसलिए मूल निमित्त क्या है स्वरूप का अनिश्चय ही निमित्त बनता है यदि पूर्व में रज्जो स्वरूप निश्चिता यदि पहले से ही रज्जु के स्वरूप निश्चय हो जाए फिर तो न सर्पाल विकल्प भविष्य फिर सर्पाल विकल्प कोई अवसर ही नहीं मिलता यथा स्वस्थ अंगुल जैसे देखो अपने हाथ की अंगुली वगैरह आप देख लेते हो इसमें कभी ये नहीं दिमाग में आता कि ये अंगुली है या कोई कीड़ा है फिर तो दिमाग में आया क्यों नहीं आता क्योंकि आपकी अपने अंगुली ही आपके लिए दृढ़ निश्चय से सिद्ध है और जिस दिन वो अंगुली अंगुली जैसे निश्चय नहीं हो पाई तो तुरंत आपको डर तो जरूर लेगा पता नहीं क्या चिड़िया है कौन सी कीड़ा हो कीटे कीड़े आ गए यहाँ पे है कीड़ा जैसे लगता नहीं घूमने वाले कीड़ा जैसे लगता है तो, तो कभी किसी में प्राप्ति नहीं बड़ा आश्चर्य रास्ता हमारे बहुत बार बार दृष्टान देते है ना इसीलिए तो इसलिए कहते हैं जैसा स्वतंगलियों में पहले से निश्चय होने के कारण से भ्रांति नहीं हुई और अनिश्चय होने पर वहां भ्रांति हो जाएगी ये दृष्टान्त ये दृष्टान्त भाग विचार हो गया तद ठीक उसी प्रकार से हेतु बल्लाद संसार धर्मान अर्थ विलक्षण स्वयं विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चित जीव प्राणादि अनंत भाव भेद आत्मा विकल्प थी सर्वोपनिषदाम सिद्धांत सर्वोपनिषदाम सिद्धांत बड़ा दृढ़ निश्चय पूर्वक कह देते हैं तद ठीक उसी प्रकार से जो हेतु आध्यात्मक जितने भी संसार भर में अर्थ विलक्षणता परस्पर पदार्थों की विलक्षणता को लेकर के जो अनुभव कर रहे हैं वह अपना जो विशुद्ध स्वरूप क्या है विशुद्ध विज्ञप्त मात्र सत्ता यहाँ बहुत शब्दावली प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने उनका ग्रंथ तो ही है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि विज्ञप्ति मात्र शब्द ये शब्द ही है विलक्षण शब्द है जो कि बौद्धों का शब्द है ये शुद्ध चैतन्य विज्ञप्ति मात्र ना विशुद्ध चैतन्य टीकाकार तो इसका जो व्युत्पत्ति ही नहीं कर रहे है ना टीकाकार इसका व्युत्पत्ति नहीं कर रहे उत्तर वाला ले लिया यहाँ वाला नहीं लिया स्वयं पे चले गए सीधे ये सृष्टांत के बाद विलक्षणत्व में स्फुटी ये कहते हेतु फलादित्य आदि शब्द न कर्तृत्व राग द्वेश है इन सबको विलक्षण रूप में अनुभव करता है अनारोपित ने दिया स्वेन मैंने अनारोपित ने वो अर्थ किया है स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण स्वेन रूप क्या है विज्ञप्ति मात्र सत्तात्मक अद्वैत स्वरूप है हमारा विशुद्ध है विज्ञप्ति क्षण विज्ञान नहीं अन्य प्रकार के विज्ञान नहीं है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है विज्ञप्ति मात्र में हो जाए विशुद्ध भी कह रहे हैं विशुद्ध विज्ञप्त मात्र श्रोताक है ऐसा जो अद्वय रूपेण अनिश्चित आत्मा का द्वैत रूपेण अनिश्चित न होने से जीव और जीव कल्पित प्राण आदि अनंत भाव भेदों के द्वारा आत्मा ही विकल्पित है सर्वोपनिषदा सच्चिदानंद द्वैत विद्या सिविल द्वैत जो है ना में प्रमाण यही बन रहा है इति ये सर्वपरिषदाम सिद्धांत क्योंकि सच्चिदान आत्मस्वरूप में अविद्या से विलसित है द्वैत प्रपंच वास्तविक नहीं इसी बात को दृढ़ता पर निश्चय पूर्वक कहती थी ये है यह द्वैतम युव भवती स्पष्ट करते हैं क्या प्रमाण है यत्र द्वैतम युव भवती इत्यादि अनेकों श्रुतियां प्रमाण है कि द्वैत वास्तविक नहीं है आप स्पष्ट करते हुए अगली कार्य का कहते हैं निश्चितायाम यथा रज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्दात्म विनिश्चय यदि रज्जु के स्वेन रूपेण आपने निश्चय कर लिया तो कैसे वो भी निश्चित स्वरूप बता रहे रज्जु वही यथा रज्जु निश्चितायाम सती विकल्प विनिवर्तते ये रज्जु ही है ऐसा जब रज्जु के विषय में आप दृढ़ता निश्चय कर लेते हैं तो जितना विकल्पनाएं थी सर्पादी वो सब निवृत्त हो जाएंगे ठीक उसी प्रकार तद्वत अद्वैतम एवं यदा आत्मनिश्चय अद्वैत ही है ये आत्मा ऐसा आत्मनिश्चय आत्म विषय का निश्चय जब कर लोगे तो जितना भी विकल्प है क्या जीव प्राणादि सब विकल्प निवृत्त हो जाए रज्जुरेव निश्चय सर्विकल्प निवृत्ता रज्जुरेव इति निश्चय ऐसा निश्चय होने पर सर्विकल्प निवृत्ति हो जाती है रज्जुरेव इति चा रज्जुरेव इति और निश्चय क्या हो गया अंतिम स्वरूप बच गया रज्जु ही रह जाता और कुछ नहीं रह गया ठीक उसे अद्वैतम यथा तथा अद्वैत ही है ये कैसा जाना आपने नेति नेति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिभा शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक करता आत्मनिश्चय जैसे सूर्य के आलोक में आप निश्चय कर लिया क्या यह रज्जु ही है मंदाधिकार में हुई थी गड़बड़ी सरबारी या इसलिए सूर्य दृष्टान में घटाना है सूर्यालोक में जैसा निश्चय कर लेते हो ये मृत्यु रेव न सरबारी देती उसी प्रकार से नेत्र सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिभा शास्त्र जनित विज्ञान से आत्मा का निश्चय कर लेते हो सूर्य आलोक से निश्चय हुआ यह शास्त्र ज्ञान रूपी आलोक है जिसके द्वारा जो है आप क्या करते हैं आत्मा का निश्चय कर लेते हैं और कैसे निश्चय होता होगी आत्म इदम सर्वम आत्मा ही एक रूपेण विकल्पित है अतएव अपूर्व अनुपुरबाह्य सारे बाह्य अभ्यंतर ही अजरो अमरो अमृतो अभय एक श्रुतिया है अपूर्व अनुपरो आनंद ये यह कारण कार्य उभय भाव से रहित है वह भीतर बाहर कहीं कुछ है नहीं और वही भीतर बाहर भी है अज होता हो भीतर बाहर भी है और भीतर बाहर है भी नहीं अलग पर विरुद्ध बात है वेदांत भी यही होता है कल्पना दृष्टिया भीतर बाहर सब कुछ वही कल्पित है सर्व दृष्टिया भीतर बाहर कहीं कोई कल्पना ही नहीं है ही नहीं कल्पना रज्जु दृष्टिया आप विचार करते हैं तो कल्पनाएं है ही नहीं अनपुरा पाइयो पड़ेगा अपूर्व अनपुरा पाइयो और अनंत कहना पड़ेगा और यदि कल्पना की दृष्टि से विचार करते हैं रज्जु दृष्टि को छोड़ो कल्पना दृष्टि विचार करो तो रज्जु ही वो बना हुआ था ये कहना रज्जु ही बाह्याभ्यंत रूपेण सरता रूपेण विवर्तित होकर दिखाई दे रहा था कल्पना दृष्टि से रज्जु विवर्त ये सारा विकल्प है ये कहना पड़ेगा अधिष्ठान दृष्टि कहना पड़ेगा कल्पना है ही नहीं दोनों कथन इसलिए परस्पर विरुद्ध आपको मिलता है हमेशा ही वेदांत इसलिए अजर है वो अमर है अमृत है अभय है एक एव अद्वैति सब ज्यादा प्रदान ने कही यदि आत्मा एक तो निश्चय यदि आत्मा एक ही यदि ऐसा निश्चय है प्राणादियों के अनंत भावों के रूप में ये जीव कैसे कल्पित हो गया सब कहते हैं माया है और क्या था हम माया को लाना पड़े बिना माया की व्यवस्था नहीं बनी आज भी व्यवहार में क्या बिना माया को कोई व्यवस्था होता है क्या माया के बिना कोई व्यवस्था सब कुछ माया के अधीन है ठन ठन माया चाहिए हर काम के लिए कुछ भी करो तो माया चाहिए प्राणादिभिरनंत भावैरेतर्विकल्पित मायेशात यया सम्मोहित स्वयं ये भी आश्चर्य स्वयं भी मोहित हो रखा है कोई दूसरा नहीं किया उसको दूसरा मोहित कर देता तो फिर मुश्किल हो जाता दूसरा ही नहीं माया आई और माया को स्वयं स्वीकार कर लिए तो वहां पे है ना उपनिषद माया को स्वयं स्वीकार कर लिए मम माया करते भगवान मेरी है माया है मैंने इसको बना लिया स्वीकार कर लिया है है ही नहीं लेकिन मान लिया मेरे पास माया है और मैं तुम्हें हमेशा रचना रचना और वो मेरी माया दुरत दे रहा है इसे इतनी आसानी से इसको पार करना सो क्योंकि जो स्वयं जो स्वीकार कर ले किसी बात यदि आप स्वीकार करें उसको समझाना मुश्किल हो जाता किसी की भी भ्रांति को निवारण करना बहुत कठिन काम इसको होता ना बहन को दूर नहीं कर सकता कोई स्वयं को दूर कर लेना पड़ता है तो उसको जितना आसान समझ में नहीं आते जितना भी आप समझाइए एक बार ऐसे हमने कोई पाठ शुरू करा था उन्नीस सौ बयानबे की बात है ग्यारह साल पहले हमने आज संग्रह का पाठ शुरू कर दिया सिद्धांत को मुझे हो गया उसके संविधान वेदांत चाहते थे और एक वेदांत परिवार से परीक्षार्थी मेरे चल रहा था उसका बैठा भी